कारण से मेरे पुत्र मारे गए हैं इसलिए इंद्र को मारने वाला पुत्र मेरे थे इस इच्छा को लेकर के कश्यप जी की उसने बड़ी सेवा की अपने पति और कश्यपम वशम अपरोज कश्यप जी को अपने बस में कर दिया कश्यप जी अरे विद्वान थे पर तो भी उसकी सेवा से उसके बस में हो गए और कश्यप जो है प्रसन्न होकर के बोले ओ बरूरू हम से प्रीतोस्मी मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं अगर पति अगर प्रसन्न हो जब है तो स्त्री के सब मनोरथ पूर्ण हो जाते संपूर्ण बात प्राणियों के देवता को वासुदेव है स्त्रियों का देवता तो उसका पति है वो पति के रूप से भगवान का ही पूजन होता है भगवान पति में स्त्री ही पूज्य जैसे हम पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं पर भगवान समझ करके भगवान को प्रसन्न करने के पीपल को तो ये पता नहीं है मेरी पूजा कर रहा पीपल जी समझ रहा है मेरी परिक्रमा कर रहा है मेरी आरती कर रहा है तुलसी की हम पूजा करते हैं तुलसी को ये पता ही नहीं चाहिए को ये मेरी आरती कर रहा पर उसके बैठे हुए भीतर जो भगवान है वो हमको फल देते हैं गौ का हम पूजन करते हैं गौ की परिक्रमा करते हैं गौ क्या समझे परंतु गौ के अंदर बैठा विराजमान जो अंतर्यामी है वो हमारे ऊपर ऐसे जब स्त्री पति का जो श्रद्धा करती है पूजन करती है तो उनके भीतर जो भगवान है वो उसको फल देते तस्मात पतिव्रता स्त्री एक भावे में पतिश्वरम से सेवन तो देवी तुमने हमारा बड़ी सेवा की तो बताओ हमारा क्या हम कामना है क्या किस कामना से तुमने हमारी बात क्या चाहती हो तो द्वितीय बोली कि महाराज मेरे पुत्र जो है मारे मैं आप शरण कर और इंद्र के मेरे सुतऊ घातऊ इंद्र ने मरवाया तो इंद्र के मारने वाला मेरे पुत्र हो और स्वयं मृत्यु हुई हो मैं चाहती हूं मेरा पुत्र हो और इंद्र के मारने वाला इंद्र भी तो कश्यप के पुरुष थे वो अदिति के पुत्र हैं युक्ति के पुत्र और कश्यप जी को बड़ा दुख हुआ अरे ये स्त्री क्या है ये तो भगवान की माया इसने तो हमको कर लिया अस्तु मया ददामी तुक्कम पर मैंने इसको कह दिया कि जो मांगे भी तेरे को बढ़ देंगे पर अब तो वही हमने कह दिया तो अपनी वचन सब करने पड़ेंगे तो इंद्रों की बदलना पड़ती ऐसी बात होना चाहिए इंद्र की बल की योग्य तो नहीं इसलिए वो कहने लगे कि देवी एक वर्ष तक तक तुम नियमों का पालन करो तांबत्सरम <coughs> व्रतम यदि धारिष्य एक वर्ष तक तुम नियमों का पालन करोगी तो फिर इंद्र को मारने वाला तुम्हारे पुत्र को और अगर इसमें गड़बड़ हो गई तो फिर देवताओं का रूप विदेशी बन जाएगा देवताओं का बंधु बन जाएगा देवताओं का शत्रु नहीं होगा फिर जितिन महाराज ने तो ठीक ठीक पुत्र को धारण करूंगी बताओ सारे ने कश्यप जी बोले भूतान हिंसा एक वर्ष तक किसी प्राणी की हिंसा मत करना न सपे तो किसी को बालों और गाली गलौज मत देना मिथ्यान बधे तो एक वर्ष तक सत्य बोलना झूठ न बोलना बोला गया करो मान संज्ञात नख मत न निषिद्ध वस्तुओं का स्पर्श न करना जल में घुस करके स्नान मत करना दुष्टों के साथ भाषण मत करना बिना धोया हुआ वस्त्र कभी पैरना मत सूती वस्त्र एक बार उतार कर रख देते हैं फिर उसको पूर्व घटाम माला न धारे एक बार माला पहन ली हो फिर उसको मत पहनना उच्छिष्टम किसी का जूता मत खाना और भद्रकाली का प्रसाद मत खाना चंडकांडम मांसम मांस मत खाना सुदीर्घाद दूषित मन्नम जिसको चिंकी जूता करते हो उसको मत खाना रजस्वला कृष्ण न भूजी तो जिस अन्न को रजस्वला ने देख लिया हो तो उसको मत खाना एक महात्मा के गणेश स्वामी थे रघुनाथ आश्रम बड़े आचार विचार से रहे एक बार वो उधर चले गए मुरादाबाद तो एक ब्राह्मण बता रहा था उन्होंने ब्राह्मणों के घर पूछे हम भिक्षा करने जाएंगे उन्होंने बताया भिक्षा करके लाए और भिक्षा करके के बाद और उनको उल्टी हो गई उन्होंने महाराज क्या बात हो गई उल्टी कैसे आप हुई तो बोले ऐसा मालूम होता है कि किसी स्त्री ने अपवित्र अवस्था में उनको भिक्षा दी तो वो ब्राह्मण बताता था में पता लगाया तो ये घर में वास्तविक में उसके यहाँ ये विचार नहीं था और उस स्त्री ने उस अवस्था में ही उनको भिक्षा दे दी तो रजस्वला दृष्टा रजस्वला दृष्टम च न भूमि अंजलिना जलम न पिवेश अंजलि से जल मत पियो झूठे मौ संध्या के समय सोना मत बिना दूसरा वस्त्र ओढ़े बाहर न निकलना अधौत पादा आत्र पादा उदक शिरा गीले पैरों से उत्तर को सिद्ध करके मत सोना पश्चिम शिरा लग्न संध्या के समय मन न सोना भोजन से पहले गुरु ब्राह्मणों को दे करके अच्छुत का पूजन करके जब भोजन करते सुभाषियों का पुण्य करना है इसका नाम है पुरुषवर्ण व्रत बोलो एक वर्ष तक तू धारण करेगी इंद्र की मारने वाला होगा चक्र पुत्र भविष्य और तो उसने कहा महाराज मैं तो एक वर्ष तक इन नियमों का पालन करूं सात अध्वजा स्वीकृत कश्यपात गतम से जरूर कश्यप जी से व्रत और गर्भ को धारण किया और एक वर्ष लगभग पूरा होने को आया दो चार दिन बाकी बचे इंद्र इंद्र को पता चला कि हमारी मौसी हमारे मारने वाला पुत्र उत्पन्न कर रही है तो वो इंद्र जो है छोटे ब्रह्मचारी का रूप बना करके वहां आ गया कश्यप जी के पास वेद पढ़ने के लिए और घर में भी जाए सेवा करने तो अतिथि की सेवा करता है पुष्प ला करके दे पूजा की सामग्री ला करके दे उनके अतिथि के वस्त्रों को धोती को गए अतिथि बड़ी प्रसन्न हो गई ये बालक बड़ा सेवक सेवक है और इंद्र ये देख रहा किसी दिन इसके व्रत में कोई त्रुटि हो तो मैं अपना काम बना यदा व्रत सिद्धम ना पश्यत जब कोई व्रत में त्रुटि उसने नहीं देखी तो चिंता हुई है इंद्र को ये तो पूरे पूरे नियमों का पालन कर रही है क्या करना चाहिए एक दिन भगवान की माया से मोहित होकर के क्या हुआ कि उच्चिष्ट मुख बिना पैर हुए भगवान की माया से मोहित होकर के संध्या के समय सूर्यस्त हो रहे थे और संध्या के समय वो सो गए सुस्वाह आवी निद्रा इंद्र ने कहा बस यही इसके व्रत का नियम भंग हो गया जट अपना सूक्ष्म रूप बना करके उसकी नाश्ता के द्वारा घुस करके उसके पेट में पहुंचे और वज्र लेकर के वो जो गर्भ था उसके साथ टुकड़े किए और बालक जो है वो साफ होकर के रोने लगे मरे नहीं साफ हो एक के साथ हो फिर एक एक के साथ साथ टुकड़े किए उनचास हो गए वो कहने लगे हे इंद्र भयम मरता अरे भाई हम और तुम तो सब एक ही मां के पेट में हैं हम तो भाई हैं तुम हमको क्यों मारते तब रातरा आसमान किन जिहान हम तो तेरे भाई हैं इंद्र बोला इस बात को मत भूलना अगर मेरे भाई हो नियम से मां रातरा कर रहे मां वरिष्ठ अगर हमारे भाई हो तब तुमको हमसे कोई भय नहीं भगवान की कृपा से दिति का दर्द मरा नहीं वो उनचास के उनचास बच्चों के रूप में परिवर्तन और जब बच्चे हुए तो उनचास अब गिन गई मैं तो एक बच्चा जानती थी उनचास कहती हुई हे इंद्रिय इंद्रेण सा पश्चात देवा तब उसको बड़ा आश थी कि मैं तो एक पुत्र चाहती हूं उनचास फिर इंद्र ने कहा माता जी ये आपके तप का प्रभाव है उसने कहा आप मेरे अपराध को क्षमा करो तो मैं बताता हूं मैंने आज आपके व्रत में जो त्रुटि देख करके मैंने आपके गर्भ में जाकर के बच्चों को के टुकड़ों दिए आपके व्रत के प्रभाव से ये मरे नहीं परंतु उतनी संख्या में हो गए अर्थी बोले अच्छा आप जा तो प्रेम को ले जा रहे हैं तेरी सहायता करें तो इंद्र प्रगण को लेकर के तो नियमों का पालन करना यदि तो कुछ नियम के पालन करने से उसका वो प्रभाव देखा इंद्र ने कि वो बच्चे वज्र से मारने पर भी नहीं मरे एक पंडित जी थे तो राजा के यहां को जाया करते राज पंडित हज पंडित जी तो बड़े पंडित थे राजा के यहां जाया राजा को उन्होंने सारे नियम बता रखे इस इस तरह से रहना चाहिए तो संक्रांति है अमावस्या है पूर्णिमा है एकादशी है इन दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए ऐसे रहना चाहिए ऐसे रहना चाहिए राजा ने सारे नियम लिख रखे और सारे नियमों का पालन करता था एक दिन पंडितानी वहां पहुंच गई राजा के घर और रानी से बातचीत हुई उनकी और रानी को ये पता चला कि पंडित जी नियमों का पालन करते नहीं जो राजा को बता रखे हाँ। तो फिर जब महाराजा घर आए और रानी ने ये कहा कि ये महाराज ये जो नियम पंडित जी ने धर्मशास्त्र के बताए हैं क्या हम लोगों के लिए नहीं है उनको लिए नहीं है क्या क्या हुआ बोला पंडितानी से काम तो हम लोगों की सारी कोल खुल गई वो तो इन्होंने का कोई पालन नहीं करते तो और जब पंडित जी आए तो राजा ने वो बात कट से लिखे क्या पंडित जी क्या ये नियम हमारे लिए है क्या सारे आप स्वयं इनका पालन नहीं करते अपन पंडित नीचे पड़े यूनिवर्सिटियों के पेट में कोई बात नहीं रहती ये तो इनके राणा राजा के घर जाके हमारी सारी घर की बात कह आई तो पंडित जी को समय और कुछ नहीं सोचा था अच्छा, राजन तुम अपने तुम्हारे लड़के को बुलाओ तो राजा ने सिपाही भेजा तो वही पंडित जी के लड़के को बुला बुलाओ तो वो सूत्रों में गवारों में खेल रहा उनके अमीन आते मना करते महाराज वो तो नहीं आ रहा है रंजीन के उसको जल्द पकड़ के लाओ तो पकड़ के लाए और सभा में लाए तो न पंडित जी को प्रणाम न राजा को नमस्कार बोला क्या बात है कैसे बुलाया अरे ऐसे बुलाया राजा तुमको देखना चाहिए महाराजा देख तो नहीं जाओ तुम अपने खेलो उसको लौट फिर ले जाओ फिर फिर कहा राजन अपने अपने पुत्र को बुलाओ तो राजा ने आज्ञा भेजी राजकुमार से कहा जा करके कि महाराजा आपको तो सभा में याद कर रहे हैं गुरु जी बैठे तो उसी समय वहां से नंगे पैरों आए आकर के पहले वहां सभा में जहां प्रवेश करते हैं वहीं लेकर के मस्तक से लगाए हाथ जोड़ करके पहले गुरु जी को प्रणाम किया पिता के चरणों में प्रणाम किया हाथ जोड़ करके बोला पिताजी क्या आ गया गुरु जी बोले कि भाई हमने बहुत तुझको देखा नहीं था बहुत दिन से तो हमने आपको देखना चाहते थे इसलिए हमने बुलाया काम कुछ नहीं है आप जाइए जब वो चला गया तब पंडित जी कहते हैं कि देखो आपने जो नियमों का पालन किया है तो ने कुछ जो हमने नियमों का पालन नहीं किया तो हमारे अभूत को देख लो इसमें क्या बात जो नियमों का जो पालन करता है वो तो नियम कहां चले जाएंगे वो तो अपना फल देंगे इस तरह से विति ने अदिति ने जो नियमों का पालन किया था उनके प्रताप से उसके उनचास पुत्र हुए अमर हुए और देवताओं के सहायक बन गए बोलिए श्री कृष्ण सर्वं जगत शब्दब्रह्ममयीं वाणीम् भजेताम् परदेवताम् योऽन्तः प्रविश्य ममवाचलिनाम् प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना प्राणो भगवते ईशाय सुज्ञम् वंशीविभूषितकरान्नवनीगतात् पीताम्बराकरुणबिम्बकलादरोष्टा सुन्दरमुखाकरेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने नमो नरवनश्यामो काम काम कमला कामकामपदेवी कमलाकां सौदाम कमकामपदेवी श्रीकृष्णाय वासुदेवाय भगवे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः नमः श्रीपरमहंसास्वादिनः चरणकमलजुन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीकृष्णगोविन्दाय प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान भगवान तो सबके लिए समान हैं सबके प्रिय हैं सबके सुहृद हैं फिर वो देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं देवताओं का पक्ष लेकर के दैत्यों का वध करते हैं उनको देवताओं से क्या लेना देना है वो तो साक्षात मोक्ष स्वरूप है और असुरों से उनका का क्या द्वेष है वो तो निर्गुण है भगवान नारायण के समता आदि के जो गुण हैं उनके प्रति हमको संदेह हो है उस तो हमारे संदेह को प्रका करके निवृत्त कीजिए सुखदेव जी बोले राजन ये तुम्हारा प्रश्न बड़ा सुंदर है इसके बहाने से तुमने भगवान के मंगलमय चरित्र को ही पूछ लिया इसमें भगवान का भक्त जो प्रहलाद है इसका उसकी महिमा कर कहनी पड़ जाएगी ये हम अपने पिता व्यास जी को हम प्रणाम करके आगे भगवान के चरित्र हम आपसे कहते हैं भगवान यद्यपि निर्गुण है अजय है अव्यक्त है प्रकृति से उतर हैं पर अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके वाद्य दादक भाव को प्राप्त होते हैं सत्य रज और कम ये तीन प्रकृति के गुण हैं इनका क्रम से रास उल्लास होता है जब सत्गुण की वृद्धि होती है तब ऋषियों को भगवान का बल मिल जाता है और उस समय देवताओं का विजय होता है ऋषियों का विजय होता है और जब रजोगुण की वृद्धि होती है तो असुरों का विजय होता है तमोगुण की वृद्धि होती है तो यक्ष राक्षसों का विजय होता है तो भगवान तो सबके लिए समान ही है ये सब गुणों की महिमा है कभी किसी का जय कभी किसी का पराजय ज्योतिराग्रवाभाती संघाताम विच्यते ये अग्नि आदि के समान जैसे अग्नि का कोई स्वरूप नहीं है काष्ठ का जैसा स्वरूप होता है वैसा योगी अग्नि का मालूम होता है अग्नि कभी काष्ठ से अलग आपने नहीं देखी कभी अग्नि को आपने देखा जो काष्ठ से भिन्न दिखाई दे तो कभी किसी न किसी उपाधि में अग्नि को आप प्रकट देखें केवल शुद्ध अग्नि आपको कहां दिखाई देगी इसी प्रकार के ये जीवात्मा है आत्मा शरीर आदि से भिन्न करके कहीं आपको दिखाई देगा शरीर में ही आत्मा का अनुभव होता है गदन के आत्मा आत्मस्थान नचत्वा परिवंतः इसी शरीर में विचार करके लेती लेती करके आत्मा का साक्षात्कार दिया जाता है तो राजन जब भगवान को सृष्टि करने की इच्छा होती है तो रजोगुण की वृद्धि होती है जब भगवान पालन करते हैं तो उस समय संहार करते हैं जब कलरों की वृद्धि कर देते हैं इसलिए ये सब गुणों का कारण है भगवान अर्ज प्रधान पुरुष को सहकारी बना करके और स्वयं इसकी सृष्टि करते हैं तेज सुरानी नंबर रहती असुराधीश चेती इस विषय में हम तुमको ये बताते हैं जिस समय महाराजा युधिष्ठिर ने जो इस तरह नाराज में ये बोल रहा था उस समय नारद जी से युधिष्ठिर ने यही प्रश्न किया तो उस बात को हमने सुना दिया यज्ञ में जब भगवान श्री कृष्ण ने शिष्टाल का शिर काट दिया तो सबके देखते देखते शिष्पाल की आत्म ज्योति भगवान श्री कृष्ण में ही हो ये ये सबने देखा तो विष्णु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये शिष्पाल तो भगवान का द्वेषी था और इसको भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई ये तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं होती सर्वेशम श्रृणनाम सताम दुष्टिरो नारदम पक्ष सब सभा इस बात को सुन रही थी युधिष्ठिर ने नारदी से प्रश्न किया सबने देखा कि शिशुपाल की आत्मज्योति और भगवान श्री कृष्ण में लीन हो रही है यद्यपि आत्मा कभी शरीर में से निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया रहा शिष्टाल की आत्मा में क्या विशेषता थी जो दिखाई दी दिया सबने देखा और जो कितने व्यक्ति मरते हैं किसी ने किसी का आत्मा देखा कभी वो भी एक भगवान की माया ही थी ये दिखाने के लिए कि ये देखो ये भगवान का द्वेषी होने पर भी और इसको भगवत प्राप्ति हो रही है युधिष्ठिर ने कहा महाराज अहो अत्यद्भुतम ये दुर्लभई दुर्लभई कांत नामी वासुदेवे परे तत्व प्राप्ति उद्देश्य विदिशा जो अनन्य भगवान के भक्त होते हैं योगी होते हैं उनको भी भगवान की प्राप्ति दुर्लभ होती है और ये भगवत प्राप्ति इसको शिष्कार तो हुई भगवान की निंदा करने से बैन तो नरक में गया सुखदेव जी बोले इस प्रश्न को सुनकर के महाराज जी प्रसन्न हुए और बोले अरे ये निंदा और स्तुति ये किसकी होती है अरे ये तो शरीर की होती है निंदन स्तर सत्कार कले वरण निंदा और स्तुति शरीर की होती और शरीर क्या है ये प्रधान और पुरुष के अज्ञान से आत्मा अनात्मा का जो तो ज्ञान नहीं है उससे उत्पन्न हुआ है उस देहानुमान से प्राणियों का जो है मैं और मेरा अपने शरीर में हो जाता हिंसा धर्म माने में इस शरीर को जब हम अपना मान लेते हैं तो इस शरीर की जो निंदा करता है हम उसको अपनी निंदा समझते हैं यज्ञबद्धो मानव यंत्र बदा प्राण और भगवान श्री कृष्ण को तो अपने शरीर में भी अभिमान है तो उनकी चाहे कोई निंदा करे ना स्थिति करे तरस दम कर तो ये हिंसा देना सकल करे देखो इसलिए भगवान श्री कृष्ण को अगर उसकी निंदा सुनकर के कोई दुख होता तो उसे नरक में भेजते और नहीं भगवान श्री कृष्ण को किसी शरीर में अभिदान नहीं है तो इसलिए उसकी निंदा करने से कोई भगवान को दुख तो नहीं होता था